जीवन का केंद्र अणु बन जाए क्योंकि उसके बाहर का कुछ भी पता नहीं है उसका कुछ भी पता नहीं है आज रात जब आप सोए तो कौन सा पता है कि कल सुबह आप उठेंगे तो फिर आज रात पूरी तरह सो लें क्योंकि दोबारा सोना आएगा कि नहीं नहीं कहा जा सकता और अगर मित्र को विदा देने गए हैं तो ये विदा इतनी संपूर्ण हो इतनी परिपूर्ण कि कौन जाने ये मित्र दोबारा मिलेंगे कि नहीं लेकिन हम ऐसे ढीले ढाले जीते हैं कि वहां हमारे जीवन में क्षणों की तीव्रता का कोई बोध ही नहीं है कोई स्पष्टता ही नहीं है हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जीने को है हम ऐसे जीते हैं जैसे सुस्ती से और आहिस्ता से जैसे जीवन एक लेजीनेस है एक आलस है एक प्रमाद है जीवन एक तीव्रता है और जो जितनी तीव्रता से जीता है वो जीवन के मंदिर में उतना ही गहरा प्रविष्ट हो जाता है लेकिन तीव्रता तो सिखाई नहीं जाती न हम रोते हैं कभी तीव्रता से कि हमारे सारे प्राण आंसू बन जाएं तब वे आंसू भी अद्भुत हो जाते हैं जो पूरे प्राणों से आते हैं तब उन आंसुओं का मोल बहुत ज्यादा है तब वे किन्हीं भी हीरे जवारातों किन्हीं भी मोतियों से ज्यादा बहुमूल्य है वो आंसू जो पूरे प्राणों की झलक लेके आते हैं एक बार भी वैसा आदमी जब रो लेता है तो रोने के द्वार से ही वो जीवन से संबंधित हो जाता है या कि जब हम मुस्कुराएं तो वो हमारे पूरे प्राणों की मुस्कुराहट हो तो वो मुस्कुराहट भी हमें उसी तीव्रता में ले जाती है जीवन का प्रत्येक अनुभव तीव्रता बने इंटेंसिटी ले लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसी तीव्रता है नहीं है तो फिर जीवन एक बंधन मालूम होगा और वो जीवन का कसूर नहीं वो आपके शिथिल अतीव्र ढीले ढाले सुस्त और प्रमादी जीवन का लक्षण है वो आप जीना नहीं सीखे इस बात का सबूत है जीना मेरी दृष्टि में या कभी भी जब जीवन को आप जानेंगे तो आपकी दृष्टि में भी प्रतिपल एक दांव है एक जुआ है उस पर सब कुछ लगा देना है जो सब कुछ लगा देता है वही सब कुछ को जान भी पाता है हम कुछ लगाते ही नहीं हमारा सब झूठा सब सात्विक है न हमने कभी श्रद्धा की है पूरे प्राणों से न कभी प्रेम किया है न कभी हंसे हैं न कभी रोए हैं एक स्मरण मुझे आता है विजयनगर के राज्य में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ उसकी सत्तरवी वर्षगांठ राजधानी में मनाई जाती थी राज दरबार में मनाई जाती थी दूर दूर से उसे प्रेम करने वाले और उसे श्रद्धा करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे वे अनेक अनेक भेंट लाए थे बहुमूल्य से बहुमूल्य राजा आए थे धनपति आए थे बड़े कुशल संगीतज्ञ आए थे सब भेंट लाए थे राजमहल में दरबार भेंटों से भर गया था और तभी द्वार पर एक भिकमंगे ने आके खबर की कि मैं भी कुछ भेंट लाया हूं मुझे भी भीतर प्रवेश मिल जाए लेकिन कपड़े उसके फटे थे दीन दरिद्र था द्वारपाल लौटाने लगे वो रोने लगा और उसने कहा क्या करते हैं मैं भी कुछ भेंट लाया हूं मुझे भीतर तो जाने दे लेकिन भिकमंगे को कौन भीतर आने दे लेकिन उसकी आवाज उसका रोना उसका चिल्लाना भीतर तक पहुंच गया संगीतज्ञ को खबर मिली उसने कहा कि जरूर आ जाने दे जो भी वो लाया है विकमंगा ही सही भेंट तो प्रेम की होती है जरूर कुछ लाया होगा वो भिकमंगा ज्यादा उम्र का नहीं था मुश्किल से तो चालीस वर्ष उसकी उम्र थी वो द्वार में आया हजारों लोग राज दरबार में थे वो भीतर लाया गया वो संगीतक के चरणों में झुका और उसने कहा कि हे परमात्मा मेरी शेष उम्र संगीतज्ञ को दे दो और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए उसी क्षण उसके प्राण निकल गए ये ऐतिहासिक घटना है कोई कहानी नहीं वे हजारों लोग खड़े रह गए दंग ऐसी भेंट न तो कभी देखी गई थी न सुनी गई थी लेकिन पूर्णता के क्षणों में भी पूर्णता के क्षणों में ही ऐसी संभावना घटित हो सकती है पूरे प्राण फिर जो भी चाहते हैं वो अगर घटित हो जाए तो कोई मिरकल नहीं कोई चमत्कार नहीं पूरे प्राणों से उठी प्रार्थना उठने के पहले पूरी हो जाती है और पूरे प्राणों से उठी आकांक्षा शब्द बनने के पहले सत्य हो जाती है और पूरे प्राणों से चाहे गए स्वप्न रूप लेने के पहले यथार्थ हो जाते हैं लेकिन पूरे प्राणों से न हमने कभी कुछ चाहा है न पूरे प्राणों से हमने जीने की कला सीखी है इसलिए जीवन एक बंधन मालूम होता है पूरे प्राणों से जो जीता है वो निरंतर स्वतंत्रता में जीता है वो हमेशा फ्रीडम में जीता है उसके लिए कोई मोक्ष कहीं नहीं प्रतिपल वो मोक्ष में जीता है इसलिए कोई मोक्ष स्वर्ग में नहीं है कोई मोक्ष आकाश में नहीं है वो है जीवन की परिपूर्णता से जीने की कला में रविंद्रनाथ मरने को थे एक मित्र ने कहा कि रविंद्रनाथ अब अंतिम क्षण आ गए जीवन की संध्या आ गई अब तुम प्रार्थना करो प्रभु से कि जीवन मरण से छुटकारा दिला दे आवागमन से मुक्त कर दे रविन्द्रनाथ ने आंखें खोल ली जो बंद थी और वे हंसने लगे और उसने कहा रविन्द्रनाथ ने कहा अपने मित्र को कि परमात्मा ने जो जीवन मुझे दिया था वो इतना धन्य हुआ मैं उसे पाकर इतना कृतार्थ हुआ कि मैं किस मुंह से कहूं कि मुझे जीवन से छुटकारा दिला दो तो। एक ही प्रार्थना अंतिम क्षण में मेरे हृदय में होगी कि अगर मुझ में जरा भी पात्रता हो तो हे प्रभु मुझे बार बार अपनी दुनिया में वापस भेज देना अगर जरा सी भी पात्रता हो मुझ में तो मुझे बार बार अपनी दुनिया में भेज देना तेरी दुनिया बहुत सुंदर थी और अगर कहीं कोई कुरूपता मुझे दिखी होगी तो वो मेरे देखने का दोष रहा होगा वो मेरी भूल रही होगी और तेरी दुनिया में बहुत फूल थे अगर कांटे गड़ गए होंगे तो मेरी कोई गलती रही होगी अगली बार आऊं तो और समर्थ होके आऊं ताकि तेरे जीवन के आनंद को और भी अनुभव कर सकूं गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में एक अद्भुत प्रयोग किया था शायद आपके ख्याल में न हो क्योंकि गांधी के शिष्यों ने उसे छिपाने की पूरी कोशिश की उस प्रयोग की चर्चा पूरे मुल्क में नहीं हो सकी गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में एक छोटा सा प्रयोग किया था शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग वे एक नग्न युवती को लेकर रात सोने लगे थे ताकि वे ये पूरा का पूरा अनुभव कर सकें कि उनके मन में कहीं अब भी कोई वासना की रूपरेखा कहीं कोई अब भी शरीर का आकर्षण शेष तो नहीं रह गया है प्राण जब पूरे के पूरे प्रभु की तरफ बहने लगे हों तो शरीर की तरफ बहने को मन में कोई भाव शेष नहीं रह जाता है इसका परीक्षण कर ले पहचान कर ले खोजबीन कर ले लेकिन इसके पहले कि प्रयोग करें उन्होंने अपने कोई बीस निकटतम मित्रों को पत्र लिखे और उनसे पूछा कि मैं ये प्रयोग करने को हूं इसके पहले कि मैं प्रयोग करूं तुमसे पूछ लेना चाहता हूं कि तुम राजी हो सहमत हो तुम्हारा कोई ऐतराज तुम्हारी कोई तुम्हारा कोई विरोध तो नहीं बीस जो पत्र लिखे थे उन्नीस पत्रों का जो उत्तर आया उसकी इबारत करीब करीब ऐसी थी कि आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं आप जो भी करते हैं ठीक करते हैं लेकिन इस प्रयोग को ना करें तो बड़ी कृपा होगी इससे बड़ी बदनामी हो जाएगी इससे ये होगा इससे वो होगा सभी का रूप यही था कि आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं लेकिन वो लेकिन सबके पीछे आ जाता था गांधी पढ़ते और पत्र को एक तरफ रख देते और कहते जहां लेकिन आ गया वहां पहले कही गई सारी बात झूठी हो गई मिथ्या हो गई आप बड़े महात्मा हैं लेकिन अब लेकिन की क्या जरूरत है बड़े महात्मा के साथ अच्छा होता कि कहते कि आप छोटे आदमी हैं इसलिए वो कम से कम सच होता ईमानदारी का होता ऑथेंटिक होता प्रमाणिक होता लेकिन 20 पत्रों में एक पत्र जरूर था जिसे गांधी हाथ में उठा के खुशी के आंसुओं से भर गए वो जेबी कृपलानी ने एक पत्र के उत्तर में लिखा था उस उत्तर में क्या आप मुझसे पूछते हैं तो मैं हैरान हो गया अगर मैं अपनी आंखों से आपको व्यभिचार करते भी देख लूं तो पहला शक मुझे अपनी आंख पर होगा आप पर नहीं पहला शक मुझे अपनी आंख पर होगा आप पर नहीं और आप मुझसे पूछते हैं तो मैं हैरान हो गया हूं मैं आपसे पूछता तो ठीक था ऐसे लोग जीवन को इस भांति देखने वाले लोग लेकिन हम अपनी आंख पे शक नहीं करते हम पूरे परमात्मा पे ही शक कर लेते हम कहते हैं ये जीवन ही बंधन है हम कहते हैं ये जीवन ही असार है हम कहते हैं ये जीवन ही बुरा है और एक बार भी ख्याल नहीं आता कि कहीं मेरी आंख ही तो कुछ गलत नहीं देखती कहीं मेरी आंख ही तो बुरी नहीं धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जिसे अपनी आंख पे शक आता है अपने चित्त पर शक आता है अपने होने के ढंग पर शक आता है अपने पर संदेह आता है लेकिन इस विराट जीवन पर नहीं वो आदमी धार्मिक है वो आदमी रिलीजियस है और वो आदमी जीवन की कला सीख सकता है क्योंकि जिससे स्वयं पर संदेह आता है वो स्वयं को बदलने का कोई उपाय कर सकता है और अगर जीवन पर संदेह आता है तब तो एक ही उपाय है कि पीठ करो जीवन की ओर और, और भागो पलायन करो छोड़ो निषेध करो त्याग करो धीरे धीरे ग्रेजुअली मरने का उपाय करो जीवन से हटो और मृत्यु की तरफ जाओ जीवन की कला का इसलिए पहला स्मरणीय बात यह है कि मैं कहीं गलत हूं अगर जीवन मुझे बंधन मालूम होता है दुख मालूम होता है पीड़ा मालूम होती मैं कहा गलत हूं तो मेरे गलत होने की सबसे पहली भूमि है कि मैं औपचारिक हूं मैं फॉर्मल हूं ऑथेंटिक नहीं प्रमाणिक नहीं मेरा होना एक झूठ है मेरे शब्द झूठ है मेरे इशारे झूठ है मेरी आंखें झूठ कहती हैं मेरा सब कुछ झूठ है इस पर चिंतन इस पर ध्यान बहुत जरूरी है कि मैंने कहीं कोई झूठा व्यक्तित्व कोई फॉल्स पर्सनैलिटी तो खड़ी नहीं कर ली हम सब ने खड़ी कर ली है बचपन से ही जहर के बीज बोए जाते हैं कि व्यक्तित्व झूठा हो जाता है लेकिन जब होश आ जाए तभी व्यक्तित्व को सत्य बनाने की दिशा में कुछ किया जा सकता है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि एक एक पल को प्रमाणिक रूप से जीने की हिम्मत और साहस और कोशिश स्मरण पूर्वक माइंडफुली एक एक क्षण को पूरी तीव्रता से जीने का प्रयास साधना का अनिवार्य अंग है तो अब जब रोए तो परिपूर्णता से पूरे प्राणों से हंसे तो पूरे प्राणों से मैत्री तो पूरे प्राणों से भोजन भी तो पूरे प्राणों से स्नान भी तो पूरे प्राणों से सोए भी उठे भी तो पूरे प्राणों से जैसे प्रतिपल जो आ रहा है वो दोबारा नहीं आएगा वो एक ही बार अनुभव से गुजरना है उस रास्ते से दोबारा गुजरने की कोई संभावना नहीं है वो पल फिर ना आएगा वो अवसर फिर ना आएगा तो जिससे एक बार गुजरना है मैं पूरे होश से पूरा जागा हुआ पूरे प्राणों से गुजर जाऊं मेरा टोटल व्यक्तित्व मेरा समग्र व्यक्तित्व समाहित हो जाए संलग्न हो जाए एक तान हो जाए तो आप धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ना शुरू होगा कि जीवन के बंधन गिरने लगे बंधन आपके शिथिल जीने में थे तीव्रता से जीते ही तत्क्षण गिर जाते हैं लेकिन प्रयोग करना पड़े प्रार्थना करनी पड़े उस दिशा में कुछ कदम उठाने पड़े उस दिशा में कुछ स्मरण पूर्वक रोज रोज प्रतिपल होश रखना पड़े कि मैं कहीं झूठा जीना तो शुरू नहीं कर रहा हूं पति है वो अपनी पत्नी से रोज कहे जाता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं और जब कहता है तब उसे पता भी नहीं कि वो क्या कह रहा है शब्द ऐसे कह रहा है जैसे किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड से निकलते हो जिनमें न कोई प्राण है न कोई अर्थ है पत्नी भी जानती है वो भी जानता है पत्नी भी कही जा रही है कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं हम जान लगा देंगे तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं जी सकते और इन शब्दों के पीछे प्राणों की कोई गवाही नहीं ये शब्द झूठे हैं मत कहें चुप बैठे रहे वो बेहतर है लेकिन मत कहें इनको इनको कह के आप सारे व्यक्तित्व को जाल में कस रहे हैं अपने हाथ से जिनके प्रति हमें कोई श्रद्धा नहीं वहां हम सिर झुकाए चले जा रहे हैं जिन मंदिरों में हमें पत्थर दिखाई पड़ते हैं वहां हम पूजा किए चले जा रहे हैं जिन शास्त्रों में हमें किसी सत्य का कोई दर्शन नहीं हुआ उन्हें हम सिर पे लिए बैठे हैं सारा व्यक्तित्व झूठा है तो इस झूठे व्यक्तित्व से जीवन के सत्य की तरफ कैसे कोई मार्ग बने कैसे कोई द्वार खोले कैसे कोई कदम उठे जिस मंदिर में आप हाथ जोड़ के गए हैं सच में हाथ आपके जुड़े थे उस मंदिर में किसी प्रभु का कभी कोई अनुभव हुआ था फिर क्यों गए उस मंदिर में फिर किसने कहा था कि उन मूर्तियों के सामने खड़े हो जाएं? एक फकीर एक रात जापान के एक मंदिर में ठहरा हुआ है सर्द रात है बहुत ठंडी रात है फकीर के पास कपड़े भी नहीं मंदिर के पुजारी ने दया करके उसे भीतर ठहरा लिया है आधी रात पुजारी की नींद खुली तो घबरा गए देखा कि मंदिर के बीच आंगन में आग जल रही है फकीर आंस ताप रहा है वो भागा हुआ गया कि ये क्या कर रहे हो वहां जाके तो पागल हो गया भगवान बुद्ध की तीन मूर्तियां थी लकड़ियों की उसमें से एक वो जला के आंस ताप रहा था उस पुरोहित ने कहा कि पागल ये क्या कर रहा है भगवान की मूर्ति जला रहा है भगवान को जला रहा है वो फकीर पास में पड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के जल गई मूर्ति की राख में घुमाने लगा कुरेदने लगा उस पुरोहित ने पूछा आप क्या कर रहे हैं ये उसने कहा मैं भगवान की अस्थियां खोज रहा हूं उस पुजारी ने सिर से हाथ ठोक लिया उसने कहा मैं पागल को ठहरा के दिक्कत में पड़ गया अब लकड़ी की मूर्ति में कहीं अस्थियां होती हैं तो वो फकीर हंसने लगा उसने कहा जब लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां ही नहीं होती तो भगवान कैसे हो सकते होंगे तुम जाओ अभी रात बहुत बाकी है और दो मूर्तियां और रखी हैं वो भी उठा लाओ तुम भी तापो मैं भी तापता हूं रात ही उस फकीर को मंदिर के बाहर निकाल दिया गया उस रात में क्योंकि लकड़ी की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ते थे और जीते जाते भगवान को सर्दी लगेगी बाहर इसकी फिक्र नहीं की गई उसे बाहर निकाल दिया गया सुबह जब पुजारी उठा मंदिर के बाहर गया तो देखा कि सड़क के किनारे जो मील का पत्थर लगा है उसके पास बैठ के वो फकीर हाथ जोड़े हुए ध्यान कर रहा है उसे फिर उतनी ही हिलानी हुई जैसी रात हो गई थी उसके पास जाकर उसे हिलाया और कहा पागल ये क्या कर रहा है पत्थर को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है उस फकीर ने कहा मुझे सभी जगह भगवान ही दिखाई पड़ते हैं सभी जगह रात मैंने इसलिए मूर्ति जलाई थी कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हें भगवान कितने गहरे दिखाई पड़ते हैं अस्थियों के लिए तुम भी राजी न हो सके तुम्हारे ही तर्क से पता चला कि भगवान तुम्हें बिल्कुल दिखाई न पड़ते थे वो मूर्ति झूठी थी तुम्हारे लिए वे उजड़े हुए हाथ झूठे थे वो की गई पूजा झूठी थी रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर में पुजारी की जगह मिली थी बीस रुपए महीने की नौकरी थी लेकिन दो चार आठ दिन में ही मुश्किल शुरू हो गई जो कमेटी थी मंदिर की वो परेशान हो गई कमेटी जुड़ी और उसने कहा यह आदमी तो गड़बड़ मालूम होता है ठीक आदमी हमेशा गड़बड़ मालूम होते हैं बड़ी शिकायतें आ गई हैं चार ही दिन में पूजा बड़ी गड़बड़ चल रही है क्या क्या शिकायत थी, थी शिकायतें बड़ी साफ थी और ठीक थी खबर आई थी कि रामकृष्ण फूलों को सूम के मूर्ति को चढ़ाते हैं खबर आई थी कि प्रसाद को पहले चख लेते हैं फिर भगवान को लगाते हैं तो कहा ये सब क्या गड़बड़ हो रहा है ये कोई पूजा है रामकृष्ण को बुलाया कि सुना गया है कि तुम फूल पहले सूंघ लेते हो फिर मूर्ति को चढ़ाते रामकृष्ण ने कहा मैं वैसे चढ़ा ही नहीं सकता पता नहीं फूल में सुगंध हो या न हो कहा कि सुना कि तुम पहले भोजन कर लेते हो फिर तुम भगवान को लगाते हो उनका मेरी माँ भी ऐसी करती थी पहले चख लेती थी फिर मुझे देती थी मैं बिना चखे नहीं दे सकता पता नहीं भोजन देने लायक बनाती हो या ना बना ये ऑथेंटिक ये प्रमाणिक पूजा हो गई लेकिन हमारी सारी पूजा झूठी और बकवास और धोखा है कुछ दिखाई नहीं पाता वहां हाथ जोड़े खड़े हैं अंधेरे में शब्द झूठे हैं प्रार्थना झूठी है प्रेम झूठा है और फिर पूछते हैं कि जीवन बंधन है बंधन जीवन नहीं मिथ्या व्यक्तित्व बंधन है वो जो फॉल्स पर्सनैलिटी है वो जो हमने सब झूठ कर रखा है वो बंधन है तोड़े औपचारिकता को तोड़े छोड़े प्रमाणिकता को जीवंत अनुभव को तीव्रता से जिए उसकी सच्चाई में जीना शुरू करें फिर आप पाएंगे कि छोटे छोटे काम पूजा हो गए उठना बैठना पूजा हो गई फिर आप पाएंगे किसी का हाथ हाथ में लेना पूजा हो गई फिर आप पाएंगे किसी की आंख में एक क्षण प्रेम से झांक लेना प्रार्थना हो गई फिर आपको दिखाई पड़ेगा वो तो सब तरफ मौजूद होने लगा उसका मंदिर तो सब तरफ उठने लगा फिर तो कण कण में पत्ते पत्ते में फूल फूल में उसकी झलक आने लगी फिर तो सब उसी के शब्द हो जाते हैं लेकिन जो प्रमाणिक रूप से जीता है वो प्रमाणिक रूप से जीवन के सत्य से संबंधित हो जाता है हम अप्रमाणिक रूप से जीते हैं इसलिए जीवन से संबंध नहीं होता है अभी तो इतना ही फिर और कुछ दो चार प्रश्न संपन्न होंगे तो कल उनकी बात करेंगे एक छोटी बात और फिर हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे ध्यान के संबंध में भी इसी संदर्भ में ये समझ लेना जरूरी है कि वो प्रमाणिक है या अप्रमाणिक वो हम अपने पूरे प्राणों से बैठ रहे हैं या बस बैठ गए हैं क्योंकि और सब लोग बैठ गए हैं अगर इसी भांति आप बैठ गए हैं चूंकि और सब लोग बैठे हैं इसलिए हम भी बैठे हैं चूंकि शिविर में आए हैं इसलिए बैठे हैं क्योंकि अब आ ही गए हैं इसलिए बैठ ही जाना चाहिए अगर इस तरह बैठ रहे हैं तो उस ध्यान में कहीं कोई गति नहीं होगी लेकिन पूरे प्राणों से पूरा दौड़ लगा के कौन जानता है कि ध्यान के बाद आप उठ पाए या न उठ पाए कौन जानता है ये क्षण अंतिम हो और कहीं ये क्षण हाथ से खो जाए तो हमेशा के लिए खो जाए कौन कह सकता है तो इस भांति कि जिससे हो सकता है यह अंतिम क्षण हो एक एक युवा सन्यासी अपने गुरु के पास पहुंचा था उस गुरु के उस उस आश्रम का नियम था कि जब भी कोई व्यक्ति आए तो पहले तीन परिक्रमा करे गुरु की फिर सात बार पैर छुए फिर बैठ के जिज्ञासा करे वो युवा पहुंचा उसने जाके कंधे पकड़ लिए सीधे और कहा कि मैं कुछ पूछने आया हूं उस गुरु ने कहा कैसे बदतमीज हो कैसे अशिष्ट हो तुम्हें पता नहीं कि पहले तीन परिक्रमा सात बार चरण स्पर्श फिर बैठो फिर पूछो ऐसे उत्तर नहीं दिए जाते उस युवक ने कहा कि तीन बार नहीं मैं तीन सौ परिक्रमाएं करूंगा और सात बार नहीं सात सौ बार पैर छूंगा लेकिन क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि मैं तीन चक्कर लगाऊ उसके बाद भी जिंदा बचूंगा आप विश्वास दिलाते हैं आप जुम्मा लेते हैं मेरे बचने का मेरा उत्तर पहले है मेरा प्रश्न पहले है मुझे पहले उत्तर मिल जाए फिर फुर्सत से आपको चक्कर लगाऊं पैर छू लू उस गुरु ने अपने और शिष्यों से कहा यह पहली दफा एक ऑथेंटिक पहली दफा एक प्रमाणिक प्रश्न पूछने वाला आदमी आ गया है अब इसे उत्तर देने की भी जरूरत नहीं इसका प्रश्न ही काफी है उत्तर तक पहुंचा देगा तो ध्यान इतनी संपूर्णता से समग्रता से हो तो इसी क्षण हो सकता है अभी और यही किसी क्षण हो सकता है अगर पूरे प्राण इकट्ठे हो जाएं। स्वामी राम तीर्थ पढ़ते थे गणित के विद्यार्थी थे और हमेशा की एक आदत थी परीक्षा में अगर बारह प्रश्न आते और लिखा होता कि कोई भी सात हल करे तो वो बारह ही हल करते और लिखते कि कोई भी सात जांच ले वैसी आदत थी हमेशा की आदत थी जितने प्रश्न परीक्षक पूछता सारे हल कर देते और ऊपर जैसा नोट परीक्षक देता है कि दस दिए हैं प्रश्न कोई पांच हल करे वैसा ऊपर नोट लिखते कि दस कर दिए हैं प्रश्न कोई भी पांच जांच ले उतना विश्वास भी था कि वो सभी सही है एमए की गणित की अंतिम परीक्षा दे रहे थे और सांझ सात बजे से एक प्रश्न हल करना शुरू किया रात के तीन बज गए और प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है साथ जो कमरे में उनका दूसरा सहपाठी वो कहने लगा तुम पागल हो गए हो सुबह करीब आई जाती है और एक प्रश्न पर सारी रात खराब कर रहे हो कौन कहता है कि ये प्रश्न आएगा भी दूसरों की फिक्र भी कर लो राम तीर्थ ने कहा और अगर ये आ गया तो क्या आज पहली दफा अंतिम परीक्षा में मुझे सारे प्रश्न हल नहीं करने पड़ेंगे पांच ही करके आ जाऊंगा नहीं नहीं ये मुझे हल करना ही है फिर परीक्षा का सवाल नहीं है जो प्रश्न हल नहीं हो रहा उसने पूरे पूरे प्राणों को चुनौती दे दी उसे तो हल करना ही पड़ेगा साढ़े तीन बज गए चार बज गए अब तो दो ही घंटे बचे हैं सुबह के पूरी रात खो गई वो प्रश्न हल नहीं होता वो मित्र घबरा गया है साथी और कह रहा है क्या पागलपन कर रहा हो तभी राम तीर्थ उठे और जाके उन्होंने अपनी पेटी से एक छुरा निकाल लाए छुरे को टेबल पर रख लिया घड़ी में पंद्रह मिनट बाद का अलार्म भर दिया और अपने मित्र से कहा कि भाई नमस्कार अगर पंद्रह मिनट में ये सवाल हल नहीं हो गया तो छुरा छाती के भीतर हो जाए मित्र ने कहा क्या बिल्कुल ही पागल हुए जा रहे हो इस सवाल से ऐसा क्या लेना देना है लेकिन राम तीर्थ सुनने के बाहर हो गए थे पंद्रह मिनट का अलार्म भर दिया था घड़ी टिक टिक आगे बढ़ने लगी है छोरा शान ने गपा हुआ है नंगा और वो सवाल हल करने लग गए सर्द रात है ठंडी हवाएं हैं माथे से तीन मिनट के भीतर पसीना चूने लगा सारे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी पांच मिनट पूरे नहीं हो पाए हैं कि सवाल हल हो गया जो छह सात घंटे से परेशान किए हुए था वो सवाल पांच मिनट के भीतर हल हो गया माथा पहुंचा उन्होंने और अपने मित्र से कहा कि सवाल हल हो गया है उसके मित्र ने कहा ये तो तरकीब बड़ी अच्छी अगली बार जब कभी ऐसी दिक्कत मुझे हुई मैं भी छुरा रख लूंगा मैं भी अलार्म भर दूंगा और किसको छुरा मारना अलार्म बज भी जाएगा और नहीं भी हुआ तो हर्ज भी क्या है तो राम तीर्थ ने कहा तू समझता है ये कोई तरकीब हुई ये तरकीब ना थी किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा था ये तो निश्चय था कि पंद्रह मिनट पूरे होते हो छुरा छाती के भीतर हो जाता जब ऐसी समग्रता से कोई व्यक्ति किसी प्रश्न के सामने खड़ा हो जाए तो प्रश्न की कोई हस्ती है कोई हैसियत है कोई ताकत है जब इतने प्राणों को पूरा का पूरा कोई दांव पर लगा दे तो किस चीज की ताकत है कौन सा प्रश्न है जो रुकेगा कौन सी समस्या है जो रुकेगी कौन सी उलझन है जो रुकेगी कौन सी अशांति है जो रुकेगी जीवन की कौन सी बाधा है जो रुक सकती है समग्रता से जीवन को दांव पर लगाने वाले लोगों के सामने न कभी कुछ आया है न कभी आ सकता है सब हट जाता है सब द्वार खुल जाते हैं सब ताले टूट जाते हैं लेकिन हम कभी समग्रता से जीने की कोई कोई दृष्टि ही हमारे पास नहीं है ध्यान भी केवल उनके लिए कुंजी हो सकती है जो ध्यान को पूरी प्रमाणता से सम, समग्रता से एक दांव बना लेते हैं सब कुछ लगा देते हैं पूरी शक्ति सब सारी ऊर्जा तो ये बात और मुझे आपसे कहनी है कि ध्यान तो जीवन के समस्त खजानों की कुंजी है लेकिन वो कुंजी उन्हीं को उपलब्ध होती है जो उसे पाने के लिए पूरी प्यास को प्रकट करते हैं पूरी प्रार्थना को पूरे प्राणों को सामने ले आते हैं आज ही हो सकता है इसी वक्त हो सकता है करने की भी जरूरत नहीं मेरे कहते कहते भी हो सकता है तो अब हम प्राप्ति के ध्यान के लिए बैठेंगे यहाँ लेटना तो संभव नहीं होगा फिर छह छा रहेगा हो जाएगा हम्म? हो जाएगा ऐसा तो अपनी अपनी जगह बना लें क्योंकि लेटना पड़ेगा चुपचाप बिल्कुल आवाज नहीं जरा भी बात नहीं अपनी अपनी जगह ले लें और आज पूरे प्राणों से क्योंकि एक रात आज एक रात कल फिर विदा हो जाना है जरा भी हंसिए नहीं जरा भी बात मत करिए क्योंकि वो सब आपके लिए नुकसान की बात होगी जगह ऊंची नीची है तो ऐसे लेटिए कि सिर आपका ऊंचाई की तरफ रहे कोई किसी को छूता हुआ ना हो थोड़े हट जाएं, थोड़ी जगह बाहर आ जाएं। हाँ बीच में तकलीफ हो तो थोड़ा बाहर निकल आए अपनी अपनी जगह ले लें चुपचाप कहीं भी कहीं भी चुपचाप लेट जाएं ठीक है मैं मान लेता हूं आपने अपनी जगह बना ली जल्दी अपनी जगह बना लें चुपचाप लेट जाएं यहां वहां न घूमे बैठ जाएं लेट जाएं सबसे पहले पूरी प्रमाणिकता से मैं ध्यान में जा रहा हूं इस भाव को ठीक से अपने चित्त के केंद्र पर ले लें पूरी शक्ति से पूरे प्राणों से पूरी आत्मा से मैं शून्य में प्रवेश कर रहा हूं ये मेरा एक प्रमाणिक संकल्प है ये कोई औपचारिक बात नहीं कि मैं ध्यान करने बैठ गया हूं जैसे इस पर ही मेरी पूरी जिंदगी लगी हुई है मेरी पूरी जिंदगी और मृत्यु का सवाल है इस भाव को चित्त के केंद्र पर ले लें फिर आंख बंद कर लें सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें आंख बंद कर ले सारे शरीर को शिथिल छोड़ दे इतनी अद्भुत रात है कि जरूर कुछ हो सकेगा इतनी आपकी प्यास है कि जरूर कुछ हो सकेगा कौन रोक सकता है होने से शरीर को शिथिल छोड़ दे आंख बंद कर ले अब मैं थोड़े से सुझाव देता हूं मेरे साथ पूरे प्राणों से अनुभव करें फिर वैसा ही होता चला जाएगा सबसे पहले भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है ढीला छोड़ दे जैसे शरीर है ही नहीं ढीला छोड़ दे शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो गया है श्वास भी शांत होती जा रही है श्वास शांत हो रही है श्वास शांत हो रही है श्वास शांत हो रही है श्वास को भी बिल्कुल शांत छोड़ दे श्वास शांत हो रही है श्वास शांत हो रही है मन भी शांत होता जा रहा है मन शांत हो रहा है मन शांत हो रहा है मन भी शांत हो गया है शरीर ढीला छूट गया श्वास ढीली छूट गई मन भी ढीला छूट गया अब चुपचाप भीतर होश से भरे हुए कोई भी आवाज सुनाई पड़ती हो चुपचाप सुनते रहे बस सुनते रहे और कुछ भी ना करें रात का सन्नाटा सुनाई पड़ेगा हवाओं की आवाज सुनाई पड़ेगी दूर सागर से आता गर्जन सुनाई पड़ेगा चुप चुपचाप सुनते रहे बस होश से भरे हुए सुनते रहे सुने दस मिनट के लिए बिल्कुल मौन सुनते रहे रात की आवाजों को सुनते रहे सुनते रहे रात के सन्नाटे को सुनते रहे धीरे धीरे वैसा ही सन्नाटा भीतर भी आ जाएगा मन शांत होता जाएगा मन बिल्कुल शांत होता जाएगा सुने रात की आवाजें सुने छोटी छोटी आवाज भी सुनाई पड़ेगी देखें हवाओं की आवाज परमात्मा बहुत सी आवाजें कर रहा है चुपचाप सुने सुनते ही सुनते मन शांत होता जाता है मन शांत होता जाता है मन शांत होता जाता है भाषण को सुनते रहे मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है मन शांत होता जा रहा है जा रहा है सुनते रहे सुनते ही सुनते मन शांत होता जा रहा है मन शांत होता जा रहा है रात का सन्नाटा सुनते रहे फिर धीरे हवाएं ही रह जाएंगी रात आपकी आवाजें रह जाएंगी आप मिट जाएंगे आप न हो जाएंगे आप नहीं हो जाएंगे जीवन से एक हो जाए मन शांत होता जा रहा produção भीतर है वही बाहर भी है धीरे धीरे आख खोले देखें वृक्षों को देखें सूरज की किरणों को जो भीतर है वही बाहर भी है सीरीज शून्य की नाव given at meditation camp Nargol India discourse number six पहले दिवस की चर्चा में जीवन के प्रति में विमुक्त भाव चाहिए इस संबंध में थोड़ी सी बात मैंने आपसे कही थी दूसरे दिन की चर्चा में जीवन के प्रति रस विभोर भाव चाहिए इस संबंध में थोड़ी सी बातें कही और आज तीसरी चर्चा में जीवन के प्रति प्रेम निमग्न मन चाहिए इस संबंध में कुछ आपसे कहना प्रेम तीसरा सूत्र है ही पहुंचता मनुष्य वहां प्रेम से पहुंच जाता है लेकिन प्रेम का हमें कोई पता ही नहीं प्रेम के नाम से जो कुछ हम जानते हैं वो सब झूठे सिक्के झूठे सिक्के इतने ज्यादा प्रचलित हैं असली सिक्कों को पहचानना ही कठिन हो गया प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है जितना गलत समझा जाता है उतना शायद मनुष्य की भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं प्रेम के संबंध में जो गलत समझी है उसका ही विराट रूप इस जगत के सारे उपद्रव हिंसा कलह द्वंद और संघर्ष है प्रेम की बात इसलिए थोड़ी ठीक से समझ लेनी जरूरी है जैसा हम जीवन जीते हैं प्रत्येक को यह अनुभव होता होगा कि शायद जीवन के केंद्र में प्रेम की आकांक्षा प्रेम की प्यास और प्रेम की प्रार्थना है जीवन का केंद्र अगर खोजना हो तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई केंद्र नहीं मिल सकता है समस्त जीवन के केंद्र में एक ही प्यास है एक ही प्रार्थना है एक ही अभीपसा है और वो अभीपसा प्रेम की है और वही अभीपसा असफल हो जाती हो तो जीवन व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे अर्थहीन मीनिंगलेस फ्रस्ट्रेशन मालूम पड़े विफलता मालूम पड़े चिंता मालूम पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं जीवन की केंद्रीय प्यास ही सफल नहीं हो पाती है न तो हम प्रेम दे पाते हैं और न उपलब्ध कर पाते हैं और प्रेम जब असफल रह जाता है प्रेम का बीज जब अंकुरित नहीं हो पाता तो सारा जीवन व्यर्थ व्यर्थ असार असार मालूम होने लगता है जीवन की असारता प्रेम की विफलता का फल है जब प्रेम सफल होता है तो जीवन सार बन जाता है प्रेम विफल होता है तो जीवन प्रयोजनहीन मालूम होने लगता है प्रेम सफल होता है जीवन एक सार्थक कृतार्थता और धन्यता में परिणत हो जाता है लेकिन ये प्रेम है क्या ये प्रेम की अभीपसा क्या है ये प्रेम की पागल प्यास क्या है कौन सी बात है जो प्रेम के नाम से हम चाहते हैं और नहीं उपलब्ध कर पाते जीवन भर प्रयास करते हैं सारे प्रयास प्रेम के आसपास ही होते हैं युद्ध प्रेम के आसपास लड़े जाते धन प्रेम के आसपास इकट्ठा किया जाता यश की सीढ़ियां प्रेम के लिए पार की जाती संन्यास प्रेम के लिए लिया जाता है घर द्वार प्रेम के लिए बसाए जाते और प्रेम के लिए छोड़े जाते हैं जीवन का समस्त क्रम प्रेम की गंगोत्री से निकलता है जो लोग महत्वाकांक्षा की यात्रा करते हैं पदों की यात्रा करते हैं यश की कामना करते हैं क्या आपको पता है वे सारे लोग यश के माध्यम से जो प्रेम से नहीं मिला है उसे पालने की कोशिश करते हैं जो लोग धन की तिजोरियां भरते चले जाते हैं अंबार लगाते जाते हैं क्या आपको पता है जो प्रेम से नहीं मिला वो पैसे के संग्रह से पूरा करना चाहते हैं जो लोग बड़े युद्ध करते हैं और बड़े राज्य जीतते हैं क्या आपको पता है जिसे वे प्रेम में नहीं जीत सके उसे भूमि जीती कर पूरा करना चाहते हैं शायद आपको ख्याल में ना हो लेकिन मनुष्य जीवन का सारा उपक्रम सारा श्रम सारी दौड़ सारा संघर्ष अंतिम रूप से प्रेम पर ही केंद्रित है लेकिन ये प्रेम की अभीपसा क्या है पहले इसे हम समझे तो और बात समझी जा सके जैसा मैंने कल कहा मनुष्य का जन्म होता है मां से टूट जाता है संबंध शरीर का अलग एक इकाई अपनी यात्रा शुरू कर देती है अकेली एक इकाई जीवन के इस विराट जगत में अकेली यात्रा शुरू कर दी थी तो एक छोटी सी बूंद समुद्र से छलांग लगा गई है और अनंत आकाश में छूट गई है एक छोटे से रेत का कण तट से उड़ गया है और हवाओं में भटक गया है मां से व्यक्ति अलग होता है एक बूंद टूट गई सागर से और अनंत आकाश में भटक गई है वो बूंद वापस सागर से जुड़ना चाहती है वो जो व्यक्ति है वो फिर समष्टि के साथ एक होना चाहता है वो जो अलग हो जाना है वो जो पार्थक्य है वो फिर से समाप्त होना चाहता है प्रेम की आकांक्षा एक हो जाने की समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा है प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है प्रेम का एक ही प्यास है एक हो जाए सबसे जो है समस्त से संयुक्त हो जाए जो पार्थक्य है जो व्यक्ति का अलग होना है वही पीड़ा है व्यक्ति की जो व्यक्ति का सबसे दूर खड़े हो जाना है वही दुख है वही चिंता है वापस बूंद सागर के साथ एक होना चाहती है प्रेम की आकांक्षा समस्त जीवन के साथ एक हो जाने की प्यास और प्रार्थना है प्रेम का मौलिक भाव एकता खोजना है लेकिन जिन जिन दिशाओं में हम ये एकता खोजते हैं वहीं वहीं असफल हो जाते हैं जहां जहां ये एकता खोजी जाती है वहीं वहीं असफल हो जाते हैं शायद जिन मार्गों से हम एकता खोजते हैं वे मार्ग ही अलग करने वाले मार्ग हैं एक करने वाले मार्ग नहीं इसलिए प्रेम के नाम से झूठे सिक्के प्रचलित हो गए मनुष्य जो एकता खोजता है वो शरीर के तल पर खोजता है लेकिन शायद आपको पता नहीं पदार्थ के तल पर जगत में कोई भी एकता संभव नहीं शरीर के तल पर कोई भी एकता संभव नहीं पदार्थ अनिवार्य रूप से एटॉमिक है आणविक है और एक एक अणु अलग अलग है दो अणु पांच तो हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते निकट हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते हैं दो अणुओं के बीच अनिवार्य रूप से जगह शेष रह जाएगी फासला डिस्टेंस शेष रह जाएगा पदार्थ की सत्ता एटॉमिक है आणविक है प्रत्येक अणु दूसरे अणु से अलग है हम लाख उपाय करें तो भी दो अणु एक नहीं हो सकते उनके बीच में फासला उनके बीच में दूरी शेष रह जाएगी ये हाथ हम कितने ही निकट ले आए ये हाथ हमें जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन ये हाथ फिर भी दूर है इनके जोड़ में भी फासला है इन दोनों के हाथ में बीच में दूरी है वो दूरी समाप्त नहीं हो सकती दो शरीर कितने ही निकट आ जाएं उनके बीच दूरी समाप्त नहीं हो सकती प्रेम में हम किसी को हृदय से लगा लेते हैं दो देह पास आ जाती हैं लेकिन दूरी बरकरार रहती दूरी मौजूद रह जाती इसलिए हृदय से लगा के भी किसी को पता चलता है कि हम अलग अलग हैं पास नहीं हो पाए एक नहीं हो पाए शरीर को निकट लेने पर भी वो जो एक होने की कामना थी अतृप्त रह जाती है इसलिए शरीर के तल पर किए गए सारे प्रेम असफल हो जाते हो तो आश्चर्य नहीं प्रेमी पाता है कि असफल हो गए जिसके साथ एक होना चाहा था वो पास तो आ गया लेकिन एक नहीं हो पाए लेकिन उसे ये नहीं दिखाई पड़ता है कि ये शरीर की सीमा है कि शरीर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता पदार्थ के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता मैटर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता ये स्वभाव है पदार्थ का कि वहां पार्थक्य होगा फासला होगा लेकिन प्रेमी को यह नहीं दिखाई पड़ता है उसे तो ये दिखाई पड़ता है कि शायद जिसे मैंने प्रेम किया है वो मुझे ठीक से प्रेम नहीं कर पा रहा है इसलिए दूरी रह गई उसे शरीर के तल पर एकता खोजना ना समझी है ये नहीं दिखाई पड़ता लेकिन दूसरा प्रेमी दूसरी तरफ जो खड़ा है जिससे उसने प्रेम की आकांक्षा की थी वो शायद प्रेम नहीं कर रहा है इसलिए एकता उपलब्ध नहीं हो पा रही उसका क्रोध प्रेमी पर पैदा होता है लेकिन दिशा ही गलत थी प्रेम की यह ख्याल नहीं आता इसलिए दुनिया भर में प्रेमी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते पति पत्नी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते सारे जगत में प्रेमी एक दूसरे के ऊपर क्रोध से भरा हुआ है क्योंकि वो आकांक्षा जो एक होने की थी वो विफल हो गई है असफल हो गया है वो और सोच रहा है कि दूसरे के कारण असफल हो गया प्रत्येक यही सोच रहा है कि दूसरे के कारण असफल हो गया हूं इसलिए दूसरे पर क्रोध कर रहा है लेकिन मार्ग ही गलत था प्रेम शरीर के तल पर नहीं खोजा जा सकता था इसका स्मरण नहीं आता है इस एकता की दौड़ में जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम पजस्ट करना चाहते हैं उसे हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मालकियत कम रह जाए पजेशन कम रह जाए तो एकता कम रह जाए इसलिए प्रेमी एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं मुट्ठी पूरी कस लेना चाहते हैं दीवार पूरी बना लेना चाहते हैं कि प्रेमी कहीं दूर ना हो जाए कहीं हट ना जाए कहीं दूसरे मार्ग पर ना चला जाए किसी और के प्रेम में संलग्न ना हो जाए तो प्रेमी एक दूसरे को पदिश करना चाहते मालकियत करना चाहते और उन्हें पता नहीं कि प्रेम कभी मालिक नहीं होता जितनी मालकियत की कोशिश होती है उतना फासला बड़ा होता चला जाता उतनी दूरी बढ़ती चली जाती क्योंकि प्रेम हिंसा नहीं है मालकियत हिंसा है मालकियत शत्रुता है मालकियत किसी की गर्दन को मुट्ठी में बांध लेना है मालकियत जंजीर है लेकिन प्रेम भयभीत होता है कि कहीं मेरा फासला बड़ा ना हो जाए इसलिए निकट और निकट और सब तरफ से सुरक्षित कर लू ताकि प्रेम का फासला नष्ट हो जाए दूरी नष्ट हो जाए जितनी ये चेष्टा चलती है दूरी नष्ट करने की दूरी उतनी बड़ी होती चली जाती है विफलता हाथ लगती है दुख हाथ लगता है चिंता हाथ लगती है फिर आदमी सोचता है कि ये प्रेम शायद इस व्यक्ति से पूरा नहीं हो पाया इसलिए दूसरे व्यक्ति को खोजूं शायद ये व्यक्ति ही गलत है तब आंखें दूसरे प्रेमियों की खोज में भटक जाती है लेकिन बुनियादी गलती वही के वही बनी रहती है शरीर के तल पर एकता असंभव है ये ख्याल नहीं आता ये शरीर और वो शरीर का सवाल नहीं है सभी शरीर के तल पर एकता असंभव है आज तक मनुष्य जाति शरीर के तल पर एकता और प्रेम को खोजती रही है इसलिए जगत में प्रेम जैसी घटना घटित नहीं हो पाई जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पोजेशन और मालकियत की चेष्टा चलती है स्वभावता उसके आसपास ईर्षा का जन्म होगा जहां मालकियत है वहां ईर्षा है जहां पोजेशन है वहां जिलसी है इसलिए प्रेम के फूल के आसपास ईर्षा के बहुत कांटे बहुत बागुल खड़ी हो जाती और ईर्षा की आंख के बीच प्रेम कुमला जाता हो तो आश्चर्य नहीं वो जन्म भी नहीं पाता कि जलना शुरू हो जाता है जन्म भी नहीं हो पाता कि चिता पर सवारी शुरू हो जाती है जैसे किसी बच्चे को पैदा होते ही हमने चिता पर रख दिया हो ऐसे ही प्रेम ईर्षा की चिता पर रोज चढ़ जाता है ईर्षा इसलिए पैदा होती है जहां मालकियत है जहां मैंने कहा मैं मेरा वहां डर है कि कहीं कोई और मालिक ना हो जाए ईर्षा शुरू हो गई भय शुरू हो गया घबराहट शुरू हो गई चिंता शुरू हो गई पहरेदारी शुरू हो गई और ये सारे के सारे मिलकर प्रेम की हत्या कर देते प्रेम को किसी पहरे की कोई जरूरत नहीं प्रेम का ईर्षा से कोई नाता नहीं है जहां ईर्षा है वहां प्रेम संभव नहीं है जहां प्रेम है वहां ईर्षा संभव नहीं लेकिन प्रेम है ही नहीं प्रेम के किनारे जाके आदमी की नौका टूट जाती है जो नौका बननी चाहिए थी जिस पर हम यात्रा करते वो टूट जाती है क्योंकि हमने प्रेम को बिल्कुल ही गलत प्रारंभ से शुरू किया है पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूं पदार्थ के तल पर कोई प्रेम संभव नहीं वो इम्पॉसिबिलिटी है वो मेरी और आपकी असफलता नहीं है वो मनुष्य जाति जीवन के लिए असंभावना है पदार्थ के तल पर कोई एकता उपलब्ध नहीं हो सकती जब ये एकता उपलब्ध नहीं होती सब तरफ चिंता और विफलता दिखाई पड़ती है तो कुछ शिक्षक ये कहने लगते हैं कि ये प्रेम ही गलत है ये प्रेम की बात ही गलत है प्रेम का विचार ही गलत है छोड़ो प्रेम के भाव को उदासीन हो जाओ जीवन को उदासी से भर लो जीवन से प्रेम की सब जड़ें काट दो ये दूसरी गलती है प्रेम गलत दिशा में गया था इसलिए असफल हुआ है प्रेम असफल नहीं हुआ गलत दिशा असफल हुई है लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लेते हैं कि प्रेम असफल हो गया तो अब प्रेम की शिक्षाएं हैं अपने प्रेम को सिकोड़ लो बंद कर लो अपने से बाहर मत जाने दो अपने से बाहर तो बंधन बनेगा मोह बनेगा आसक्ति बनेगा अपने भीतर बंद कर लो प्रेम को बाहर मत बहने दो उदासीन जीवन के प्रति हो जाओ प्रेम की खोज ही बंद कर दो एक ये दिशा पैदा होती है ये विफलता का ही परिणाम है ये रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन का प्रेम की तरफ पीठ करके जाने वाले लोग उसी गलती में हैं जिस गलती में प्रेम को शरीर के तल पर खोजने वाले लोग थे दिशा गलत थी प्रेम की खोज गलत नहीं थी लेकिन दिशा गलत है ये नहीं दिखाई पड़ा दिखाई पड़ा कि प्रेम की खोज ही गलत है तो प्रेम से उदासीन शिक्षकों का जन्म हुआ जिन्होंने प्रेम की निंदा की प्रेम को बुरा कहा प्रेम को बंधन बताया प्रेम को पाप कहा और व्यक्ति अपने में बंद हो जाए लेकिन उन्हें इस बात का पता ना रहा कि व्यक्ति जब प्रेम की संभावना छोड़ देगा तो उसके पास सिर्फ अहंकार की संभावना शेष रह जाती और कुछ भी शेष नहीं रह जाता प्रेम अकेला तत्व है जो अहंकार को तोड़ता और मिटाता है प्रेम अकेला अकेला रसायन है जिसमें अहंकार गलता है और पिघलता है और बह जाता है जो लोग प्रेम से वंचित अपने को कर लेंगे वे सिर्फ इगोइस्ट हो सकते हैं सिर्फ अहंकारी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं उनके पास अहंकार को गलाने और तोड़ने का कोई उपाय न रहा कोई मार्ग न रहा प्रेम स्वयं के बाहर ले जाता है प्रेम अकेला द्वार है जिससे हम अपने बाहर निकलते हैं और अनंत की यात्रा पर चरण रखते हैं प्रेम जो अन्य है जो जगत है जो जीवन है उससे जोड़ता है लेकिन जो प्रेम की यात्रा बंद कर देते हैं वे टूट के सिर्फ अपने मैं में अपने अहंकार में अपनी ईगो में कैद हो जाते हैं बंद हो जाते हैं एक तरफ विफल प्रेमी है दूसरी तरफ अहंकार से भरे हुए साधु और सन्यासी अहंकार इस बात की स्वीकृति है जैसा मैंने कहा प्रेम इस बात की खोज है कि मैं सबके साथ एकता खोज लू समि के साथ एक हो जाऊं अहंकार इस बात का निर्णय है कि मैंने एकता खोजनी बंद कर दी मैं मैं हूं मैं अलग ही रहूंगा मैं अपनी सत्ता से निश्चिंत हो गया हूं मैंने मान लिया कि मैं मैं हूं बूंद ने स्वीकार कर लिया कि सागर से मिलना असंभव है या मिलने की कोई जरूरत नहीं ये बूंद जो अपने में बंद हो गई ये भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकती ये सिकुड़ गई बहुत छोटी हो गई बहुत क्षुद्र हो गई अहंकार क्षुद्र कर देता सिकोड़ देता बहुत छोटा बना देता आनंद विराट के साथ संभव है क्षुद्र के साथ नहीं आनंद अनंत के साथ संभव है सीमित के साथ संभव नहीं जहां सीमा है वहां दुख है जहां सीमा नहीं है वही आनंद है जहां सीमा है वहां अंत है वहां मृत्यु है जहां सीमा नहीं वहां अनंत है वहां अमृत है क्योंकि जहां सीमा नहीं वहां अंत नहीं वहां मृत्यु नहीं अहंकारी क्षुद्र के साथ जुड़ जाता है अपने को अलग मानकर ठहर जाता है रुक जाता है पिघलने से बह जाने से मिट जाने से सबके साथ एक हो जाने से अपने को रोक लेता है मैंने सुना है एक नदी समुद्र की तरफ यात्रा कर रही थी जैसी कि सभी नदियां समुद्र की तरफ यात्रा करती भागी चली जा रही थी नदी समुद्र की तरफ कौन खींचे लिए जाता था मिलन की कोई आशा एक हो जाने की विराट के साथ संयुक्त हो जाने की कोई कामना किनारों को तोड़ देने की सीमाओं को तोड़ देने की तटहीन सागर के साथ एक हो जाने की कोई प्यास नदी को भगाया ले जा रही थी नदियां भाग रही हैं वो नदी भी भाग रही थी कोई प्रेम जैसा प्रत्येक मनुष्य की चेतना भाग रही है भाग रही अनंत के सागर के साथ एक होने को वैसी वो नदी भी भाग रही थी लेकिन बीच में आ गया एक मरुस्थल बड़ा था मरुस्थल नदी उसमें खोने लगी नदी दौड़ने लगी तेजी से संघर्ष करने लगी तोड़ देगी उसने पहाड़ तोड़े थे उसने गांठ तोड़े थे उसने मार्ग बनाए थे वो इस मरुस्थल में भी मार्ग बना लेगी लेकिन महीनों बीत गए सालों बीतने लगे मार्ग नहीं बनता है नदी मरुस्थल में खोती चली जाती है रेत उसे पीती चली जाती है राह नहीं बनती है और तब नदी घबराई और रोने लगी उस मरुस्थल की रेत ने कहा अगर हमारी सुनो तो एक बात स्मरण रखो मरुस्थल को केवल वे ही नदियां पार कर सकती हैं जो हवाओं के साथ एक हो जाती हैं जो अपने को खो देती हैं और हवाओं के साथ एक हो जाती हैं जो अपने को मिटा देती हैं जैसे ही वे अपने को मिटाती हैं हवाएं उन्हें अपने कंधों पर उठा लेती हैं और फिर मरुस्थल पार हो जाता है मरुस्थल से लड़के कोई कभी पार नहीं होता है मरुस्थल के ऊपर उठ के पार होता है बहुत नदियां आई हैं इस मरुस्थल को पार करने में खो गई केवल वही नदियां उठ पाई हैं जिन्होंने अपने को खो दिया भाप हो गई हवाओं के कंधों पर उठ गई मरुस्थल को पार कर गई लेकिन वो नदी कहने लगी मैं मिट जाऊंगी मैं मिटना नहीं चाहती हूं मैं बनी रहना चाहती हूं तो सागर की रेत ने कहा अगर बनी रहना चाहोगी तो मिट जाओगी और अगर मिट जाओगी तो बनी भी रह सकती हो पता नहीं उस नदी ने उस सागर की रेत की बात सुनी या नहीं जरूर सुन ली होगी क्योंकि नदियां आदमियों जैसी ना समझ नहीं होती वो सवार हो गई होगी हवाओं के ऊपर पार कर गई होगी बादल बन गई होगी उठ गई होगी ऊपर नई दिशा में यात्रा कर ली होगी लेकिन आदमी का अहंकार लड़ लड़ के टूट जाता है लेकिन मिटने को राजी नहीं होता लड़ता है टूटता है लेकिन मिटने को राजी नहीं होता जितना लड़ता है उतना ही टूटता है उतना ही नष्ट होता है क्योंकि किससे हम लड़ रहे हैं स्वयं की जड़ों से किससे हम लड़ रहे हैं स्वयं के ही विराट रूप से किससे हम लड़ रहे हैं स्वयं की ही सत्ता से टूटेंगे मिटेंगे नष्ट होंगे दुखी होंगे पीड़ित होंगे प्रेम से जो बचता है स्मरण रहे प्रेम मैंने कहा एक हो जाने की आकांक्षा है और एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो जो मिटने को राजी नहीं होता वो उसके लिए दूसरी दिशा खुल जाती है वो अहंकार की दिशा है तब वो अपने को बनाने को मजबूत करने को पुष्ट करने को ज्यादा सख्त अपने आसपास दीवार उठाने को किला बनाने को उत्सुक हो जाता है अपने मैं की मजबूत करने की यात्रा में संलग्न हो जाता है प्रेमी असफल हो गए क्योंकि शरीर के तल पर एकता खोजी सन्यासी असफल हो जाते हैं क्योंकि अहंकार के तल पर अलग होने का निर्णय करते हैं क्या कोई तीसरा मार्ग नहीं उसी तीसरे मार्ग की आपसे बात करना चाहता हूं अहंकार तो कोई मार्ग नहीं है अहंकार तो दुख की दिशा है अहंकार तो भ्रांत है मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है भीतर सिवाय शब्द के जब सब शब्द छूट जाते हैं और आदमी मौन होता है तो पाता है वहां कोई मैं नहीं कभी मौन होके देखे कभी चुप होके देखे कभी शांत होकर देखेंगे वहां फिर कोई मैं नहीं पाया जाता वहां कोई मैं नहीं वहां एग्जिस्टेंस है वहां सत्ता है अस्तित्व है लेकिन मैं नहीं मैं मनुष्य की ईजाद है मैं मनुष्य का आविष्कार है बिल्कुल झूठा उतना ही झूठा जैसे हमारे नाम झूठे हैं क्यों कोई आदमी किसी नाम को लेकर पैदा नहीं होता लेकिन जन्म के बाद हम नाम दे देते हैं ताकि दूसरे लोग उसे पुकार सकें बुला सकें नाम की उपयोगिता है यूटिलिटी है लेकिन नाम की कोई सत्ता नहीं कोई अस्तित्व नहीं दूसरे लोग नाम लेके बुलाते हैं मैं खुद क्या कह के अपने को बुलाऊं तो मैं अपने को मैं कह के बुलाता हूं मैं खुद के लिए खुद को पुकारने के लिए दिया गया नाम है और नाम दूसरों को पुकारने के लिए दिए गए नाम है नाम भी उतने ही असत्य हैं जितना मैं का भाव असत्य है लेकिन इसी मैं को हम इसी मैं को मजबूत करते चले जाते हैं मैं को मोक्ष चाहिए मैं को परमात्मा चाहिए मैं को पद चाहिए मैं को मुक्ति चाहिए मैं को आनंद चाहिए मैं को सुख चाहिए लेकिन मैं को कुछ भी नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ है मैं असत्य है जो असत्य है उसे कुछ भी नहीं मिल सकता मैं भी असफल हो जाता है और प्रेम भी असफल हो जाता है और दो ही दिशाएं हैं एक प्रेम की दिशा है और एक अहंकार की दिशा है मनुष्य के जगत में दो मार्गों के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग नहीं है एक मैं का एक प्रेम का प्रेम असफल होता है क्योंकि हम शरीर के तल पर खोजते हैं मैं असफल होता है क्योंकि असत्य है तीसरा क्या हो सकता है तीसरा यह हो सकता है कि हम मैं की सम्यक दिशा खोजें प्रेम की सम्यक दिशा खोजें और मैं की असम्यक दिशा से बचें प्रेम शरीर के तल पर नहीं चेतना के तल पर घटने वाली घटना है शरीर के तल पर जब प्रेम को हम घटाने की कोशिश करते हैं तो प्रेम ऑब्जेक्टिव हो जाता है कोई पात्र होता है प्रेम का उसके तरफ हम प्रेम को बहाने की कोशिश करते हैं वहां से प्रेम वापस लौट आता है क्योंकि पात्र शरीर होता है जो दिखाई पड़ता है जो स्पर्श में आता है लेकिन प्रेम को अगर आत्मिक घटना बनानी है अगर प्रेम को कॉन्सियसनेस बनाना है चेतना बनाना है तो प्रेम ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता सब्जेक्टिव हो जाता है तब प्रेम एक संबंध नहीं चित्त की एक दशा है स्टेट ऑफ माइंड है बुद्ध एक सुबह बैठे हैं और एक आदमी आ गया है वो बहुत क्रोध में है उसने बुद्ध को बहुत गालियां दी हैं और फिर इतने क्रोध से भर गया है कि उसने बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक दिया है बुद्ध ने अपने चादर से वो थूक पहुंच लिया और उससे कहा मित्र कुछ और कहना है बुद्ध का भिक्षु आनंद पास बैठा है